على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله अल्लाह रब्बुल इस मुबारक नशस में हम सब का जमा होना कबूल मंजूर फरमाए और इस मुबारक नशस के तुफैल अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए आइए उस दुआ को हम तीन मरतबा पढ़ लें कि जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मांगा करते उम्मत की तालीम के लिए या मुकल्लिबल कलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकल्लिबल कलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकल्लिबल कलूब ثبت قلبي على دینک صلی اللہ علیہ वसल्लम गुजशत नशिस में अहम तरीन नशिस्त का आगाज हमने किया था वो था मसला बिद बिदअत बिदत किसे कहते हैं बिदत की हकीकत क्या है और बिदती कौन लोग हैं तो इस में पहले ये बात बताई गई थी और जो बातें हमने पिछली नशिस में आपके सामने पेश की थी हम उन्हें एक मरतबा दोहराएंगे क्योंकि ये दर हकीकत कोई बयान या तकरीर नहीं बल्कि मकसद ये है कि एक क्लास की सूरत हम हाजिर हों और ये सारी बातें हमें अच्छी तरह याद हो जाए तो आपको ये मसला बयान किया गया था और ये मसला वाकई एक अहम तरीन मसला है कि किसी भी मसले को समझने के लिए उस मसले से मुतल कुरान की तमाम आयतों और तमाम अहदीस तय्यबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसलम के सीरत के तमाम पहलू तमाम पहलू और साहब कराम के आमाल और अकवाल और ताबीन तबा ताबीन बुजुर्गान दीन के अफ़ाल और अकवाल इस मौजू पर मालूम होना ज़रूरी है अगर कोई एक हदीस को सामने रखे और बाकी तमाम अहदीस तयबा और कुरान की आयतों पर नज़र न रखे तो नुकसान ये होता है कि वो उस हदीस से जो मफहम समझता है वो मफहम समझने में उससे गलती हो जाती है और जब वो गलती हो जाती है तो वो एक ऐसा दावा करता है कि जिससे बहुत सारी हदीसों का इनकार हो जाता है मसल कुरान की एक आयत करीमा है फ़ैन इज़्ज़त जमी सारी की सारी इज्जत तो अल्लाह ही के लिए है सारी की सारी इज्जत किसके लिए है अल्लाह के लिए अब इस आयत करीमा को कोई पढ़े पूरे कुरान की आयतों और अहदीस तैयबा और इन तमाम बातों पर उसकी नज़र न हो और वो इसका मतलब ये निकाले कि इज्जत सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के अलावा किसी की ताजीम करना इज्जत करना यह शिरक है तो नतीजा क्या होगा नतीजा ये होगा कि इसने खुद कुरान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि कुरान मजीद फ़ुकान हमीद ने अम्बिया की शान बयान की अलिया की शान बयान की और अहदीस तैयबा पर एतराज़ हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की इज्जत करने का हुक्म दिया माँ बाप की इज्जत करने का हुक्म दिया उस्ताद की इज्जत करने का और उस्ताद की ताजीम का हुक्म दिया तो अगर तमाम अहदीस पर नजर होती तो वो ये गलत मफहम अखज ना करता तो फिर सही मफहूम क्या निकलता सही मफहम ये निकलता कि हकीकी तौर पर इज्जत अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में है वो जिसे इज्जत अता फरमाए वही इज्जत वाला है और जिसे वो जलील फरमा दे उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता तो इसी तरह बिदत का मसला है कि बिदत के मसले पर समझने के लिए तमाम बातों पर यानी बिदत के मौजू की मुनासिबत से तमाम अहादीस तैयबा पर नजर होना जरूरी है इसी जिम में हमने एक मसला बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स एक सहाबी आकर अर्ज करते हैं कि मुझे नसीहत कीजिए तो रसूलुल्लाह हर मरतबा यही नसीहत करते हैं गुस्सा ना कर ला तकदब ला दब ला दब गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर अब सिर्फ यही हदीस अगर पेश नज़र रखें और आगे पीछे का कुछ मालूम ना हो या उस पर नज़र ना हो तो बंदा इस हदीस से अगर ये मफहम निकाल ले कि गुस्सा बिल्कुल हराम है और हर हालत में गुस्सा करना बुरी चीज है तभी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि वो अहादीस के जिसमें फरमाया कि सबसे अफजल अमल यह है कि मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए हो नाराजगी हो तो अल्लाह के लिए हो सबसे अफजल अमल यह है यानी गुस्सा हो तो अल्लाह के लिए होना चाहिए फिर वो अहादीस तय्यबा कि साहबा कराम अलहिम रिजवान ने दुश्मनान इस्लाम के सामने गुस्से का इजहार किया जैसे सिद्दीक अकबर तो भी जब तमाम पर नजर होती है तो फिर ये मफहूम निकलता है कि गुस्सा न कर गुस्सा न कर इससे मुराद यह है कि अपनी जात के लिए गुस्सा न कर और गुस्से में आकर शरीय के खिलाफ काम ना कर तो इसी तरह आदिश तयबा में लफ्ज बिदत जहां पर जिक्र किया गया और फिर बिदत की मजम्मत की गई कि कुल्लु बिदत इन दलाला हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है और इस तरह की जितनी अहदिश तयबा हैं कि जिसमें बिदत की मजम्मत की गई तो अगर कोई ये माना करे इसके कि कुरान फरमाता है यौमा अकमल तो लकुम दी नकुम हिजतुलविदा के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में हज किया तो मैदान आराफात में यह आयत नाजिल हुई कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया तो वो कहे कि फिर नौ जिलहिजा यौम आरफा दस हिजरी इसके बाद जितने काम ईजाद किए जाएं सब बिदत हैं क्योंकि कुरान की आयत नाजिल हो गई आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया जब दीन मुकम्मल हो गया तब इसमें कोई इजाफा नहीं होना चाहिए तो लिहाजा इसके बाद जितने आमाल ईजाद हुए सब बिदत हैं अगर वो ये तस्वुर बना ले और कहे कुल्लु बिदत इन दलाला हर बिदत गुमराही है तो लिहाजा दस हिजरी नौ जिल हिज्जा यौम आरफा के बाद जो भी काम ईजाद हुआ सब बिदत है तो फिर बहुत सारे कामों पर एतराज वाक़ होगा नंबर एक नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि का मामूल यही था कि किसी का इंतकाल हो जाता तो उसे कब्रस्तान में उसकी तदफीन फरमाते कब्रस्तान के अलावा आपने दूसरे मकाम पर तदफीन नहीं फरमाई जन्नतुल्बकी में उसकी तदफीन होती लेकिन रसूल्ला का विशाल हुआ तो साहबा कराम ने आपकी तदफीन जन्नतलबकी में न की बल्कि मस्जिद नबी शरीफ के बराबर में आपका मज़ार बनाया ये एक नया काम फिर सिर्फ हजूर ही का मज़ार नहीं सिद्दीक अकबर का मज़ार सिद्दीक अकबर के बराबर में हजरत उमर का मज़ार ये वो काम है जो रसूलुल्लाह ने कभी नहीं किया फिर चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कुरान मजीद फुकान हमीद सिर्फ लोगों के जहनों में था और अरब के लोग अपने हाफजे पर भरोसा करते थे अगर किसी के पास लिखा हुआ था तो मुकम्मल लिखा हुआ नहीं था किसी के पास एक सूरत है किसी के पास दो सूरतें सिद्दीक अकबर के दौर में जब मुसलमा कजाब से जंग हुई और 700 सौ हफाज कराम शहीद हो गए 700 वो हफाज कराम शहीद हुए कि जो अलहम से लेकर वन्नास तक हर हर आयत की तफसीर उन्होंने रसूलुल्लाह से हासिल की थी यानी सिर्फ वो हाफिज ही नहीं थे कुरान याद ही नहीं था बल्कि कुरान की एक एक आर, एक एक आयत की तफसीर शान नजूल और हर चीज वो जानते थे तो सात सौ साहबा के नाम शहीद हो गए हजरत उमर के जहन में यह ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना कुरान को किताबी सूरत में जमा किया जाए बुखारी शरीफ में है कि वो सिद्दीक अकबर के पास आए और अर्ज की तो देखें सात सौ साहबा नाम हाफिज शहीद हो गए अगर इस तरह हुफाज शहीद होते रहे तो फिर कुरान मजीद फ़ुकान हमीद की हिफाजत की फिर क्या सूरत होगी तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ते फरमाया आप क्या कहना चाहते हैं तो हजरत उमर ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान को जमा कर लिया जाए तो आपने फरमाया मैं वो काम कैसे करूँ जो काम रसूल ने नहीं किया और दूसरी बात कुरान मजीद फ़ुकान हमीद में है इन्ना नाहन नजल न जिक्र व इन्ना लहू हाफिजून हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे तो कोई कह सकता था कि जब अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो हजरत उमर को इतना परेशान होने की जरूरत क्या है दूसरी बात यह कि हजरत उमर ने इस सवाल के जवाब में यह नहीं कहा कि देखें हम तो साहबी हैं और साहबा कराम जो काम ईजाद करें वो तो सुन्नत ही होता है बिदत तो हमारे बाद शुरू होगी ये आपने नहीं कहा बल्कि आपने दलाइल से साबित किया कि ये काम है तो नया लेकिन ये शरीयत के खिलाफ नहीं ये काम अच्छा है यानी ये बिदत हसना है बिदत सयाह नहीं है तो आपने कहा वल्लाह खैर अल्लाह की कसम इस काम में खैर ही खैर है इमाम बुखारी लिखते हैं कि हजरत उमर समझाते रहे हजरत सिद्दीक अकबर सवालत करते रहे एतराज़ात आपके जहन में आते रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किया वो काम मैं कैसे करूं फिर आप कहते हैं अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया जिस बात के लिए अल्लाह ने हजरत उमर का सीना खोला था मैंने जान लिया कि ये काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया लेकिन रसूलुल्लाह की तालीमत के खिलाफ नहीं है और रसूलुल्लाह ने इस काम से मना भी नहीं किया और इसमें खैर ही खैर है नुकसान का कोई पहलू नहीं है तो आपने इजाजत दे दी फिर आपने जैद बिन साबित को बुलाया जो यानी कातिबान वही में सबसे आला मकाम रखते हैं जैद बिन साबित कि रसूलुल्लाह इन्हें कुरान लिखवाया करते अब मसला यह था कि जैद बिन साबित आए तो जैद बिन साबित ने भी यही सवाल किया कि जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया वो मैं कैसे करूं आप दोनों इस काम का मुझे क्यों कहते हैं इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर यही कहते रहे वल्ला खैर वल्ला खैर ये काम ठीक है रसोल्ला ने नहीं किया मगर इस काम के अंदर बुराई का कोई पहलू नहीं है इस काम से दीन इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचेगा इस काम से सुन्नत नहीं उठेगी ये काम शरीय के या रसूलुल्लाह की तालीमत के खिलाफ नहीं हजरत जैद बिन साबित कहते मुझे समझाते रहे यहां तक कि मेरा सीना जो है शराह हो गया और मैंने फिर इस काम का तहिया किया और फिर सिद्दीक अकबर के दौर में कुरान पाक किताबी सूरत में जमा किया गया अब देखिए कुरान तो क्या कहता है अलियाम अकमल दी नकुम योम आरफा दस हिजरी आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया तो अगर इसके ये माना होते तो कभी सिद्दीक अकबर इसके लिए जो कायल ना होते कभी जैद बिन साबित कायल ना होते कभी हजरत उमर के जहन में ख्याल ना आता पता ही चला कि इसका ये मतलब नहीं है इसका मतलब यह है कि इस्लाम के उसूल मुकम्मल हो गए अब जो भी चीज नई ईजाद हो उसे आप देख लें कुरान और हदीस के उसूल के मुताबिक है अगर उसूल के मुताबिक है तो ठीक है और उसूल के खिलाफ है सुन्नत उससे मिट रही है तो वह गलत है अच्छा फिर आप देखें तीसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ान के महीने में आपने तरावी की जमात नहीं करवाई कि पूरे रमज़ान के महीने में तरावी जमात से पढ़ी जाती हो और पूरा कुरान ख़त्म होता हो सिद्दीक अकबर के दौर में भी ये नहीं हुआ और हजरत उमर के इब्तदाई दौर में यह नहीं था और फिर हजरत उमर ने इसको ईजाद किया और फिर जब आपने ईजाद किया तो आपने बुखारी शरीफ की अल्फाज सुने थे कि बुखारी शरीफ किताबु सलात तरावी के अंदर ये अल्फाज हैं कि इमाम बुखारी कहते हैं कि हजरत उमर ने जब तरावी का यह तरीका ईजाद किया कि जो न रसूलुल्लाह ने किया न सिद्दीक अकबर ने किया तो आपने क्या अल्फाज कहे न्यामल बिदातु हादिही ये अल्फाज आपको याद करने हैं क्या कहे न्यामल बिदातु हादिही न्यामा माने अच्छी हादी माने ये ये तरावी पढ़ना कि बीस रकात तरावी रोजाना ईशा की नमाज के बाद रमजान में पढ़ना और इसमें मुकम्मल कुरान खत्म करना हजरत उमर क्या कह रहे हैं न्यामल बिदातु हादी ये अच्छी बिदत है हम क्या कह रहे हैं इसे ये अच्छी बिदत है तो अब सवाल यह है कि अहदीस में टकराव हो गया हदीस में थे कुल्लू बिदत इन दलाला हर बिदत क्या है गुमराही जोर से कहें और हजरत उमर क्या कह रहे हैं बुखारी शरीफ में नियमल बिदातु हादी अच्छी बिदत है रसूलुल्लाह फरमाते हैं हर बिदत गुमराही और हजरत उमर कह रहे हैं ये अच्छी बिदत है और फिर हजरत उमर की वो शान है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इन नक जक अला लिसान उमरा अल्लाह ताला ने हजरत उमर की जबान को ऐसा महफूज कर दिया कि इनकी जबान से कभी कोई गलत बात जारी हो ही नहीं सकती ये रसूलुल्लाह ने पहले ही फैसला कर दिया अब जब रसूलुल्लाह ने यह कह दिया कि हजरत उमर अपनी जबान से कोई गलत बात कह ही नहीं सकते तो अब हजूर की हदीस के बाद हम इसको इस हदीस को गलत इस रिवायत को गलत तो मान ही नहीं सकते अगर हम कहें कि हजरत उमर से गलती हो गई अगर कोई कहे तो इसका मतलब रसूलुल्लाह ने फिर गलत पैगाम दिया नवजुबिल्ला मिजालिक ऐसा कोई मुसलमान सोच ही नहीं सकता तो हुजूर की यह हदीस भी सही है कुल्लु बिदतिन दलाला हजरत उमर का यह कहना नेमल बिदातु हाजी ये भी सही है और रसूलुल्लाह का यह फरमाना कि हजरत उमर की जबान से हक ही जारी होगा अल्लाह ने इनकी जबान को महफूज कर दिया है और इनके दिल में हमेशा हक का ही ख्याल आएगा तभी तो देखें इनके ख्याल की तायीद सिद्दीक अकबर ने भी इनके ख्याल को मान लिया और हजरत जैद बिन साबित ने भी मान लिया तो फिर अब आपको वही मसला कि किसी एक मसले को समझने के लिए तमाम उस मौजू की अहदीस को पेश नजर रखना चाहिए तो अब हमने ये देखा कि कुल्लू बिदत इन दलाला और नियमल बिदत हादी ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं तो फिर महक्कीन ने बहुत प्यारा इसमें इसमें तत्वीक की और फरमाई ये बात याद रखें कि कुरान और हदीस की रोशनी में अहादीस तयबा में और साहबा कराम के अकवाल में जहां भी बिदत की मजम्मत की गई उससे मुराद बिदत सई है कुल्लू बिद आते सई अतिन दलाला इसका मतलब होगा हर बिदत सई आ गुमराही है अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से ऐसे महकिन हैं कि जिन्होंने कहा कि कुल्लू बिदातिन दलाला का मतलब है हर बिदत सई आ दलाला है और बिदत हसना वो इससे मुस्तना है तो उनमें तो हजरत उमर का यह कौली काफी है कि अगर ये फर्क ना होता तो नियमल बिदातु हाजी हो नहीं सकता लेकिन बड़े बड़े मुहदसिन ने इसकी वाज तशरी की है मसलन अलामा नबवी अल रहमा अलामा नबवी रहमा ये मुस्लिम शरीफ के शारे हैं शारे मुस्लिम शरीफ हैं और इस वक्त शाफई जो हजरात हैं वो इमाम नबवी को इमाम शाफई के बाद और मुतकदमीन ओलमा के बाद जिसके कौल को शाफई हजरात हजत मानते हैं वो इमाम नबी हैं आज भी मुल्क शाम में इमाम नबवी के मकाम पर यानी उनके मज़ार अकदस पर शाम के लोग बड़ी अकीदत से हाजिरी देते हैं और उनका कहना यह है कि इमाम नबी जो है वो सूफी थे यानी जहद आप में बहुत ज्यादा था इतना जहद ज्यादा था कि आपने बावजूद ताकत के निका नहीं फरमाया क्योंकि आप कहते थे कि मेरी तवज्जो इल्म की तरफ इतनी है कि मैं बीवी के हकूक अदा नहीं कर सकूंगा क्योंकि दिन और रात में आप किताबों से बाहर ही नहीं निकलते थे और जब किताब का मुताला करते तो आपको होश जो है ना खाने का होता ना पीने का होता ना सोने का होता तो आपने बावजूद ताकत के निका ना फरमाया तो इस पर यह सवाल हुआ कि निका तो सुन्नत है तो फरमाया सुन्नत उसके लिए है कि जो बीवी के हकूक अदा कर सके मेरी तो ऐसी कैफियात है कि मैं दिन और रात किताब से बाहर ही नहीं निकल सकता तो जो हकूक अदा ना कर सकता हो उसके लिए मना है तो इमाम नबी के मज़ार अकदस पर जब जाएं तो आपको बड़ी जहत दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और बड़ी रूहानियत है तो मैं कर रहा था कि इमाम नबवी इस वक्त शाफी हजरात के एक इमाम की हैसियत रखते हैं आप का जो सन विसाल वाज से तकरीबन सौ साल कबल है आप इस हदीस की शराह में जो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर एट हंड्रेड 867 है अन रदी अल्लाह तला रसूल सल्ला वसलम अम्मा हजरत जाबिर से रिवायत है रदी अल्लाह तु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने इशाद फरमाया फ़ैन खरीगल हदीसी किताबुल्लाह सबसे अच्छा कलाम अल्लाह की किताब है वह खरीगल हदी हदी मोहम्मदिन सल्लल्लाहु और सबसे बेहतरीन हिदायत रसूलुल्लाह की तालीमत है वह शर्रुल मोहदसा मोहदसातुहा और तमाम उमूर में बदतरीन उमूर नए नए काम है वह कुल्लू बिदातिन दलाला और हर बिदत गुमराही है इमाम नबी ने इस हदीस में इस हदीस के तहत लिखा कुल्लू बिदातिन हादा आम मखसूस फरमाए कि यहां पर कुल का लफ्ज है लेकिन इससे मुराद कुल्लू बिदातिन आ है यानी हर बिदत सैया गुमराही है फिर कहा कि बिदत की दो किस्में होती हैं बिदत हसना बिदत सय्या इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे कहा कि वो नया काम या वो नया अकीदा जो कुरान और हदीस अकवाल सालहीन के मुताबिक हो यानी उस उसूल के मुताबिक हो तो वो नया काम जो है वो बिदत हसना होगा और उस उसूल से हटकर होगा तो वो बिदत सय्या होगा मसलन तबलीग दीन करना इसकी असल साबित है कुरान हदीस के मुताबिक इस्लाम का जो मतलूब है वो ये है कि हम इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं और यह भी मतलूब है कि हमत अमली के साथ दौर के तकाजों के मुताबिक जैसी ज़रूरत हो असल मकसूद है लोगों को दीन की तरफ लाना ये तो हो गया उसूल अब इसकी शाखें हैं फुरवैयात हैं कि रसूलुल्लाह ने जिस तरह तबलीग फरमाई साहबा कराम ने जिस तरह तबलीग फरमाई क्या उसके अलावा कोई नया तरीका तबलीग में ईजाद कर सकते हैं मैं फिर यहां पर रुक जाता हूं और अपनी इस बात को फिर दोहराता हूं कि बिदत की तारीफ क्या है कि इस्लाम में जो उसूल मौजूद है अब नया जो तरीका निकला वो उस उसूल के खिलाफ तो नहीं वो तालीमत से टकरा तो नहीं रहा वो सुन्नत को मिटा तो नहीं रहा तो जो सुन्नत को मिटाएगा रसूलुल्लाह की तालीमत से टकराएगा कुरान और हदीस के उसूल से टकराएगा वो बिदत और बिदत सही और जो उस उसूल के मुताबिक होगा वो बिदत हसना तो इस्लाम का ये मतलब है कि लोगों को दीन की तरफ माइल किया जाए और दीन की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा की जाए ये इस्लाम का मतलूब और मकसूद है लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने दीन का काम किया जिस तरीके से साहब कराम ने किया क्या उन तरीकों के अलावा कोई नया तरीका निकाल सकता है तो हम ये कहते हैं नया तरीका ईजाद किया जा सकता है मगर उस नए तरीके को देखेंगे कि वह कुरान हदीस से टकरा तो नहीं रहा अगर कुरान हदीस से टकराएगा ये नया तरीका जो तबलीग के लिए होगा ये बिदत सही आ होगा और कुरान हदीस से नहीं टकराएगा तो ये बिदत हसना हो जाएगा मसला रमजान मुबारक में हर चार रकात से पहले एक पाओ कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर करना ये ना हजूर से साबित है ना साहबा से साबित है भाई रसूल्लाह से तो तरावी की जमात भी साबित नहीं पूरे रमजान सिद्दीक अकबर से भी साबित नहीं हजरत उम्र और बाद के साहबा से साबित है लेकिन ये कहीं सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने हर चार रकात से पहले एक पाओ का तर्जमा और तफसीर पेश किया हो ईरान भी फतेह हो गया था जिसका नाम फारिस था शाम और रूम के कई इलाके फतह हो चुके थे जिनकी जबान रूमी थी वहां सिर्फ तरावियां हुई लेकिन यह साबित नहीं कि तरावी में चार चार रकात से पहले कुरान का तर्जमा तफसीर पेश की जाए या रमजान मुबारक में तरावी के बाद पूरे कुरान का यानी सवा पारे का तर्जमा और तफसीरी खुलासा जो पेश किया जाता है ये न हुजूर से साबित न सहाबा से साबित अब ये जो किया जाता है ये तबलीग दीन के लिए किया जाता है किसके लिए किया जाता है तबलीग दीन के लिए है नया तरीका कि जो ना रसूलुल्लाह से साबित ना सहाबा से साबित लेकिन ये तरीका जो है कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि इससे जो तरावी पढ़ने में और लुत्फ आता है और ओक़ व शौक बढ़ता है और जब कुरान समझ के तरावी पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं दिल में रिक्कत तारी होती है और कुरान और हदीस में कहीं भी कोई उसूल ऐसा नहीं है जिससे ये हराम या मकरू साबित होता हो लिहाजा है नया तरीका मगर क्या है जायज़ है दूसरा तरीका किसी ने कहा भाई मॉडर्न दौर है तो मॉडर्न दौर में तबलीग का अंदाज जो है वो मॉडर्न होना चाहिए अच्छा भाई जनाब कैसे करें तो ऐसे करें कि जो जिस हाल में आना चाहते आ जाए कोई चड्डी पहनकर आना चाहता है चड्डी पहनकर नेकर पहनकर आ जाए कोई खातून जो है साड़ी पहनकर आना चाहती है तो आ जाए बेपर्दा सब बैठे हुए हैं तालियां मारी जा रही हैं सीटियां मारी जा रही हैं बदनिगाही हो रही है औरतें भी मौजूद हैं मर्द भी मौजूद हैं और जनाबे वाला कुरान और हदीस की खिदमत के नाम से तबलीग की जा रही है म्यूजिक भी बज रहा है जब उनसे कहा जनाब ये क्या कर रहे हैं कहने लगे देखें मॉडर्न लोग हैं अब इन लोगों को दीन के करीब करने के लिए एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए हमने नाइट क्लब के अंदर इनको कुरान और हदीस की दावत में जमा किया है नाइट क्लब इसमें डांस भी होगा शराब भी रखी हुई है लेकिन जिसको शराब पीनी हो पिए लेकिन हम तो यहाँ कुरान हदीस की दावत देंगे फिर इसके बाद हम चले जाएंगे या चले शराब भी ना हो डांस भी ना हो लेकिन औरतों और मर्दों का इस तरह जमा हो जाना और बेपर्दगी का माहौल हो तो बताइए ये तबलीग का एक नया तरीका है और ये तरीका कुरान हदीस के उसूल के खिलाफ है तो ये क्या हो गया बिदत सयाह हो गया अब इसकी वजह से हर तबलीग दीन का तरीका बिदत सयाह नहीं बनेगा बल्कि जो कुरान हदीस के खिलाफ है वो क्या हो गया बिदत सयाह हो गया तो इसी तरह आप हर उसूल को समझते जाएं तो हजरत इमाम नबवी रहमा ने कहा कि बिदत की दो किस्में हैं एक बिदत सै है एक बिदत हसना बिदत सयाह इसे कहते हैं कि जो कुरान हदीस के उसूल के खिलाफ हो और कुल्लु बिदतिन दलाला से यही मुराद है दूसरी दलील देखें हजरत इमाम बई हकी ये इमाम बई हकी वो इमाम है कि जो हदीस के फन के माहरीन है वह इमाम बहकीकी की हैसियत और उनकी शान को जानते हैं कि आप अगर किसी हदीस को सही कह दें तो सही लोग मान लेते हैं और आप उसे ज़यीफ कह दें तो लोग ज़यीफ मान लेते हैं इतना आपका मकाम है इमाम बई हकी अपनी सही सनत के साथ लिखते हैं कि इमाम शाफई ने फरमाया कि हदीस में फरमाया कि तमाम उमूर में सबसे बदतर उमूर जो है वो मुहदसात हैं नए नए काम तो कहते हैं अलमुहदसात मिनल उमूरी दरबान इमाम शाफई फरमाते हैं कि नए नए कामों की दो किस्में होती हैं अब आप बताइए इमाम शाफई जो लाखों हदीसों के हाफिज हैं जिन्होंने ताबईन से फैज हासिल किया बताइए वो कुरान और हदीस को ज्यादा जानने वाले हैं या चौदहवीं सदी का कोई आम आदमी कुरान को ज्यादा जानने वाला है यकीन वो कुरान हदीस को ज्यादा जानने वाले हैं वो अगर कुरान हदीस को नहीं समझे तो फिर कौन समझ सकता है अब क्या फरमाते हैं फरमाते हैं अलमोहदसा तो मीन उमूरी दरबान नए नए कामों की दो किस्में होती हैं अहद अहदुमा पहला काम वो है उहदिसा जिसे ईजाद किया गया मिम्मा युखालिफ किताबन औ सुन्नतन औ असरन औ इजमान जिसे नया ईजाद किया गया मगर वो कुरान की मुखालफत कर रहा है या सुन्नत की मुखालफत कर रहा है या साहबा कराम के अफ़ाल की मुखालफत कर रहा है या इजमा के खिलाफ है फहादिल बिदातुदलाला तो ये बिदत दलाला है ये बिदत गुमराही वाली है वो सानिया दूसरा वो काम है मा माह मिन खैर जिसे ईजाद किया गया खैर के लिए ला खिला खिलाफी ली आहद मिनलमा इमाम शाफी कहते हैं कि किसी आलिम किसी मुहदस का इसमें इख्तलाफ नहीं कि ये जायज़ है यानी हर वो काम कि जिसमें खैर का पहलू हो और वह कुरान हदीस सुन्नत इजमा और साहबा कराम के अखवाल के खिलाफ न हो तो ये बिदत हसना है और इसमें कोई हरज नहीं फहाद ही मुहदसतन गैर मजमूमा ये एक ऐसा नया काम है कि जो अच्छा है फिर हजरत इमाम शाफी दलील में कौन सी हदीस ला रहे हैं वक़द कला उमर रदी अल्लाह तु फ़ी क्याम शाह रमदान हजरत उमर ने रमजान के महीने में तरावी के मुतालिक इर्शाद फरमाया नमल बिदात हादी ये एक अच्छी बिदत है यानी अन्ना मुहदसतुन यानी एक नया काम है लम तकन जो हजूर के दौर में और सिद्दीक अकबर के दौर में नहीं हुआ वहीदा कानत लई शफीहा रद्दन लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो शरीय के खिलाफ हो तो पता क्या चला कि हर वो नया काम जायज है कि जो शरीयत के खिलाफ ना हो और यही बात अल्लामा इबिन असीर ने लिखी मुहदस मक् मुकरमा अल्लामा अली कारी ने लिखी मुदर्रस मदीना मुनवरा शेख महक़ शेख अब्दुल हक मुहदस दहलवी ने लिखी अल्लामा शामी ने लिखी यही बात शार बुखारी इबन हजर अस्कलानी ने लिखी और यही बात शार बुखारी अल्लामा ऐनी ने लिखी और यही बात इमाम जलालुद्दीन सयूती अशाफी रहमा कि जिन्होंने बेदारी में पिछहत्तर मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार किया उन्होंने लिखे अब आप बताइए इतने बड़े बड़े मुहदस अगर ये कहें कि बिदत की दो किस्में एक बिदत हसन आए और एक बिदत आ है और कुल्लू बिदत दलाला से मुराद बिदत सैया है तो बताइए ये कुरान हदीस को हमसे ज्यादा समझने वाले हैं ये सब एक गलत राय पर जमा कैसे हो सकते हैं इमाम शाफई ने तो ये कह दिया कि बिदत हसना के गलत होने पर कोई कायल नहीं सब बिदत हसना को सही मानते हैं दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ किताबुल हज और बुखारी शरीफ किताबुल उम्रा हमारे कुछ भाई और हमारी कुछ बहनें अहम अहम बातों को नोट भी करते हैं तो शायद ये ओलमा के नाम वो नोट ना कर सके हों तो आप चाहें तो इसे नोट कर लें पहले इमाम नबवी का हवाला पेश किया फिर इमाम अल रहमा का और फिर जिन बुजुर्गों के नाम लिए कि उन्होंने बिदत की ये दो तकसीमें की हैं उनमें है अलामा इबन असीर असीर लिखेंगे अलिफ सा या रा असीर और चौथे बुजुर्ग हैं मुहदस मक् मुकर्रमा अलामा अली कारी जो हनफियों में इमाम की हैसियत रखते हैं अल्लामा अली कारी पांचवें हैं मुदर्रिस मदीन मुनवरा शेख अब्दुल हक ये वो हैं जो मस्जिद नबी में दरस हदीस दिया करते थे रसूल्लाह का दीदार हुआ और आपने फरमाया हिंद में जाओ और हदीस की खिदमत करो अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रोज़ अकदस पर हाजिर होता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है तो फिर वहां मैं महरूम हो जाऊंगा तो फरमाया यहां तुम मेरे रोजे को देखते हो वहां तुम मुझे देखोगे तो आप रोजाना रात को रसूलुल्लाह का दीदार किया करते थे और इस पर सभी मुत्तफिक हैं बुखारी और मुस्लिम का फैज बर सगीर में इन्हीं के जरिए पहुंचा मुदर्रिस मदीन मनवरा मुहदस शेख अब्दुल हक शेख अब्दुल हक अल्लामा शामी अल्लामा शामी वो बुजुर्ग हैं कि फतावा शामी आपने लिखी कोई भी हनफी मुफ्ती होगा वो अगर फतवा देना चाहता है तो उसके लिए फतावा शामी का उसके दारुफ्ता में होना जरूरी है कि फतावा शामी के बगैर वो फतवा देने की सलाहियत नहीं रखता यहां तक कि अरब के जो ओलामा शाफई हैं मालकी हैं हमली हैं उन्हें जब जरूरत पड़ती है कि हम ये देखें कि हनफी मसलक इस कौल के बारे में क्या है तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ फतावा शामी को देखते हैं इतने मुस्तनद बुजुर्ग हैं आपने बिदत की ये दो किस्में फतावा शामी में बयान की अल्लामा शामी बुखारी शरीफ की दो शुरुआत पूरे आलम इस्लाम में सबसे ज्यादा मशहूर हैं शाफई हजरात के नजदीक अल्लामा इबन हजर जिनकी फतहुल बारी फतहुल बारी अल्लामा इबन हजर तो शाफी हजरात जो हैं बुखारी की ये शरा बड़े शौक से पढ़ते हैं और हनफी हजरात के नज़दीक उमदतुल कारी अल्लामा ऐनी की बुखारी की शरह और आखिर में हमने जिक्र किया इमाम जलालुद्दीन सयूती जिन्हें बेदारी में पिछहत्तर मरतबा रसूल्ला का दीदार नसीब हुआ और आपने एक किताब लिखी है उसके अंदर आपने वो हदीसें लिखी हैं कि पिछहत्तर मरतबा जो बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ तो रसूलुल्लाह ने जो उन्हें डायरेक्ट हदीसें बताई हैं वो उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं आप कहते हैं कि चूंकि मैंने रसूलुल्लाह का दीदार किया है तो अब इन हदीस की सेहत में मुझे कोई शक नहीं है तो ये इमाम जलाद्दीन सयूती भी बिदत की दो तारीफें करते हैं कहते हैं दो किस्में हैं बिदत की एक बिदत सयाह है और एक बिदत हसना है मुस्लिम शरीफ किताबुल हज बुखारी किताबुल उमरा मस्जिद नबी शरीफ में साहब कराम मौजूद थे साहब कराम और ताबईन चाश की नमाज पढ़ रहे थे सब जमा थे अपने अपने तौर पर चाश की नमाज पढ़ रहे थे लेकिन रसूलुल्लाह का मामूल क्या है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में कभी चाश की नमाज यानी आपके बारे में साबित नहीं कि आपने मस्जिद में अदा की हो हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह घर में ही चाश की नमाज अदा किया करते लेकिन अब साहबा कराम और ताबईन का मामूल ये बन गया था कि वो अपना अक्सर वक्त यानी ज़रूरत के लिए मस्जिद से बाहर निकलते और अपना अक्सर वक्त मस्जिद में गुजारते हैं वो कारोबार के लिए गए कारोबार से फारिग हुए तो सीधा मस्जिद में आ गए और वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं तो चाश के वक्त बहुत ज़्यादा रश होता और मस्जिद नबी शरीफ में लोग चाश की नमाज पढ़ गए थे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तुमा आपसे हजरत मुजाहिद और हजरत उर्वा बिन जुबैर ने पूछा और वो इस तरह बयान करते हैं वन्नासु युसलून दुहा फिल मस्जिद हमने देखा कि लोग मस्जिद नबी में सलातुद्दुहा चाश की नमाज अदा कर रहे थे फसल ना हो अन सलातिम तो हमने पूछा इनसे यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से ये जो नमाज चाश मस्जिद में पढ़ रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं फ़कौल बिद तो आपने कहा यह बिदत है आपने क्या कहा यह बिदत है अब यहां पर सिर्फ बिदत के अल्फाज हैं और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और बुखारी की हदीस है जब इस हदीस की शरह की अलामा इबन हजर असकलानी ने फतुल बारी में तो उन्होंने कहा कि देखें एक हदीस को समझने के लिए सारी हदीसें पेश नज़र होनी चाहिए तो नमाज चाश को हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिदत कैसे कह सकते हैं क्योंकि नमाज चाश पढ़ना तो रसूलुल्लाह से साबित है तो उन्होंने कहा इनकी मुराद ये है कि रसूलुल्लाह तो घर में नमाज चाश पढ़ते थे मस्जिद में नमाज चाश पढ़ना बिदत है तो इबन हजर असलानी ने कहा कि मस्जिद में नमाज चाश पढ़ना ये कुरान हदीस के खिलाफ तो नहीं तो हजरत इबन उमर ने इसको बिदत क्यों कहा तो इबन हजर असकलानी ने कहा कि इससे मुराद इनकी बिदत हसना है इससे मुराद क्या है बिदत हसना है जिस तरह नमाज तरावी को हजरत उमर ने बिदत हसना करार दिया फिर उन्होंने दलील में इबन उमर की दूसरी रिवायत पेश की कहा इमाम बुखारी के उस्ताद अपनी किताब मुसन्फ इबन अबी शैबा में लिखते हैं और हदीस नंबर है सेवन सेवन सेवन फाइव कि इबन उमर ने सिर्फ बिदत नहीं कहा बल्कि कहा बिदातुन व नियमतिल बिदातु ये बिदत है और अच्छी बिदत है तो उन्होंने कहा देखें दूसरी रिवायत से भी साबित हुआ कि इनकी मुराद यहां पर यह है कि ये बिदत हसना है बिदत आ नहीं इसकी दलील ये है कि आप बताइए कि साहबा कराम के सामने बिदत की जा रही हो वो खामोश बैठ सकते हैं तो ये आराम से बैठे हुए हैं और मस्जिद नबी में लोग नमाज दोहा पढ़ रहे हैं नमाज चाश अगर ये बिदत सयाह होती सयाह होती और ये हराम होता तो हजरत इबन उमर टेक लगा कर ना बैठते शोर मचा देते और इन्हें रोक देते क्योंकि साहबा कराम ने हर गुनाह से और गुमराही से लोगों को बचाने की कोशिश की तो इनका इतमान से बैठना और सवाल करने पर यह कहना कि यह बिदत है और अच्छी बिदत है मतलब यह कि ठीक है ये तरीका रसूलुल्लाह से साबित नहीं लेकिन रसूलुल्लाह की हदीसों के खिलाफ भी नहीं रसूलुल्लाह ने मना भी नहीं किया हजरत इमाम बुखारी रहमान लिखते हैं कि हजरत खुबैब रदी अल्लाह तु ने जब आपको शहीद करने लगे कुफार तो काफरों ने कहा कि आपकी अगर कोई दिली ख्वाहिश हो तो आप हमें बताएं तो हम पूरी करेंगे तो हजरत खुबैब ने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि मुझे दो रकात नफिल पढ़ने की इजाजत दी जाए तो काफरों ने इजाजत दे दी तो आपने दो रकात नफिल बड़े मुख्तसर पढ़े यानी लंबे नहीं पढ़े सुन्नत और मुस्ताबात के मुताबिक पढ़े आपने लंबा क्याम नहीं किया लंबा रुकू नहीं किया लंबा सज्जा नहीं किया आपसे पूछा गया बल्कि आपने खुद ही बताया आपने कहा काफिरों जब तुमने कहा कि ठीक है आप दो रकात नफिल पढ़ लें तो मैं जानता था कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है और ये दो रकात मैं जिंदगी की आखिरी पढ़ रहा हूं मेरा दिल चाह रहा था कि बहुत लंबी करूं बहुत लंबी पढ़ूं लेकिन फिर मैंने मुख्तसर की इसलिए कि कहीं तुम ये ना समझो कि मैं शहादत से डरता हूं इसलिए मैं डर रहा हूं और लंबी कर रहा हूं इसलिए मैंने मुख्तसर की शहादत से मैं डरता नहीं हूं बल्कि शहादत तो मेरी खुश नसीबी है अब तो मैं जो करना है कर लो ये है साहबा कराम का जज्बा जिहाद और शौक शहादत इमाम बुखारी इस पर लिखते हैं कि हजरत खुबैब ने वक्त शहादत दो रकात नफिल पढ़ने का जो तरीका ईजाद किया ये दीगर साहबा कराम से और रसूल्लाह से साबित नहीं ये दीगर सहाबा कराम से और रसूल्लाह से साबित नहीं तो इमाम बुखारी ये लिख कर कहते हैं अब कयामत तक वक्त शहादत जो कोई भी दो रकात नफिल पड़ेगा उसका सवाब हजरत खुबैब को मिलता रहेगा और फिर वो हदीस बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई दीन में अच्छा तरीका ईजाद करेगा यानी वो तरीका जो दीन के खिलाफ नहीं होगा जो दीन में अच्छा तरीका ईजाद करेगा तो जब तक लोग अमल करते रहेंगे उसको सवाब मिलता रहेगा और जो दीन में कोई बुरा तरीका ईजाद करेगा तो जब तक लोग उस बुरे तरीके पर अमल करते रहेंगे उसे गुना मिलता रहेगा दूसरी बात ये बात तो सभी मानते हैं कि इमाम बुखारी हदीस लिखने से पहले आपने सोलह साल में बुखारी शरीफ लिखी है कितने साल में सोलह साल में और इसमें तकरीबन सात हजार से जायद हदीसें हैं कितनी हदीसें सात हजार से जायद हदीसें हैं तो आपने सात हजार मरतबा गसल किया है और चौदह हजार आपने रकतें नवाफिल पढ़ी हैं ये बुखारी शरीफ लिखते हुए क्योंकि आपका मामूल था कि हर हदीस लिखने से पहले गसल करते और फिर दो रकात नफिल पढ़ते फिर हदीस लिखते फिर दोबारा दूसरी हदीस लिखने से पहले गसल करते फिर दो का नफिल पढ़ते फिर हदीस लिखते फिर तीसरी हदीस लिखने के लिए फिर दोबारा उठते गसल खाने जाते गसल करते और ये सोलह साल मक्के में रहे हैं और फरमाया कि गसल में करता दो रकात नफिल पढ़ता फिर आब जमजम पीता और खाने काबा को देख कर फिर हदीस लिखता सोलह साल में हदीसें लिखी हदीसों पर जो उनवान होते हैं ना जो चैप्टर कायम किए जाते हैं कि भाई ये फला चैप्टर की हदीस है वो आपने नहीं लिखे सिर्फ हदीसें लिखी हदीसे जमा कर दी चैप्टर वाइज चैप्टर बाब आपने किताब और बाब नहीं लिखे और फिर कहते हैं कि मैं ये हदीसे लिखने के बाद मैं चला गया मदीन मुनवरा और फिर रियाजुल जन्ना में रसूल्लाह के रोज़े अकदस के करीब बैठकर मैंने बुखारी शरीफ के चैप्टर कायम किए अब आप बताइए कि साहबा कराम के दिल में हदीस की मोहब्बत सबसे ज्यादा थी अगर कोई इमाम बुखारी पर एतराज करे कि बताइए इमाम बुखारी आपके अंदर हदीस की मोहब्बत ज्यादा है या साहब कराम में ज्यादा है तो यकीन वो यही कहेंगे कि भाई साहब कराम में ज्यादा थी तो साहब कराम ने हदीस लिखने से पहले हदीसें लिखी हैं साहब कराम ने हदीस लिखने से पहले ना उन्होंने गसल किया और ना ही दो रकात नफिल पड़े और ना ही ऐन खान काबा के सामने जाकर और खान काबा का दीदार करते हुए जमजम पीकर हदीस लिखी हो ये हर हदीस में इल्तिजाम करना भाई तो ये काम को इमाम बुखारी ने क्या कर दिया लाजिम कर दिया हालांकि शरय तौर पर यह लाजिम नहीं है ना ये काम हुजूर ने किया ना साहबा ने किया ना ताबइन ने किया ना तबा ताबइन ने किया ये इमाम बुखारी ने एक दीन में नया काम ईजाद किया तो क्या कोई ये कह सकता है कि इमाम बुखारी पर कोई एतराज करे और तंज करे नवूजबिल्ला जाले क्या रसूलुल्लाह से साहबा से और ताबईन से तबा ताबईन से बढ़कर इमाम बुखारी के दिल के अंदर हदीस की मोहब्बत थी लिहाजा ये बिदत है सैया है ये बात नहीं है बात यह है कि सवाल यही है कि इमाम बुखारी ने यह जो नया तरीका ईजाद किया ठीक है इमाम बुखारी ने इसे अपने ऊपर लाजिम कर दिया लेकिन इमाम बुखारी से फर्ज नहीं मानते थे वाजिब नहीं समझते थे इसे सुन्नत मक्दा या सुन्नत गैर मक्दा नहीं समझते थे और ये तरीका शरीयत के खिलाफ भी नहीं लिहाजा इसका बिदत से कोई ताल्लुक ही नहीं अच्छा आप बताइए इमाम मालिक के बारे में मशहूर मरूफ है और पूरी दुनिया तस्लीम करती है इमाम बुखार इमाम मालिक मदीन मुनवरा में कभी आपने चप्पल नहीं पहने इमाम मालिक ने मदीन मुनवरा में कभी चप्पल नहीं पहने मदीना मुनवरा में कभी सवारी पर सवार नहीं हुए और तबई जो हाजतें होती हैं आपने कभी मदीना मुनवरा में तबई हाजतें नहीं की मदीने से बाहर जाते जिंदगी में एक ही हज किया उसके बाद मदीने से बाहर नहीं निकले और आप कहते हैं मैं मदीने में मरना चाहता हूं एक हज फर्ज था मैंने अदा कर लिया लेकिन अब मुझे डर लगता है कि अगर मदीने से बाहर गया और मैं मर गया तो कहीं मदीने से बाहर मुझे मौत ना हो जाए अब सवाल यह है कि इमाम मालिक के दिल में हदीस की मोहब्बत मदीने की मोहब्बत साहबा कराम से ज्यादा तो नहीं हो सकती और अहले बैत अतहार से ज्यादा तो नहीं हो सकती हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन तो हर साल मदीने से निकलकर हज के लिए जाते थे तमाम साहबा कराम में से अक्सरियत हज के लिए वो मदीने से बाहर निकलती और इमाम मालिक क्या कहते हैं मुझे मदीने से बड़ी मोहब्बत है मैंने एक हज किया है दूसरे हज के लिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा कहीं मदीने से बाहर मौत ना आ जाए साहबा कराम से यह तो साबित नहीं कि उन्होंने मदीने में चप्पल ना पहने हों या ताबईन ने ना पहने हों तो क्या हजरत इमाम मालिक के दिल में कोई यूं कहेगा कि मदीने की मोहब्बत साहबा से ज्यादा है साहबा कराम तो मदीने में सवारी पर बैठते थे और हजरत इमाम मालिक नहीं बैठते थे तो क्या कोई एतराज कर सकता है कि भाई इमाम मालिक के दिल में क्या साहबा कराम से बढ़कर मोहब्बत थी कि वो तो बैठते थे और ये नहीं बैठते थे मजीद देखें इमाम मालिक जा रहे थे रास्ते में एक शख्स ने पूछा कि फुला जो साहबी हैं उन वो रसूलुल्लाह का जो फरमान सुनाते हैं वो क्या फरमान है आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती रसूलुल्लाह का फरमान चलते चलते पूछता है जलाल में आकर बीस कोड़े मारे जब बीस कोड़े मार दिए फिर आपको बड़ा रहम आया उस पर आपने कहा मेरे साथ चल उसे घर ले गए इमाम मालिक ने कहा कि मुझसे कोई कुरान की बात पूछे कुरान की आयत पूछे तो मैं बता देता हूं कोई फिका का मसला पूछे चलते हुए बता देता हूं लेकिन हदीस कोई चलते हुए पूछे तो यह बेअदबी में समझता हूं अब बताइए कुरान की आयत तो बता देते हैं इमाम मालिक लेकिन हदीस चलते हुए नहीं बताते तो क्या कोई कहेगा कि कुरान पर फोकियत दे दी फिर इमाम मालिक अपने घर ले गए और आपने आपने गुसल किया आली शान सबसे महंगा तरीन कपड़ा जो उस वक्त रूए जमीन पर सबसे महंगा कपड़ा जो पहना जाता था यानी कोई बादशाह भी ना पहनता हो वो महंगा कपड़ा आपने निकाला वो कपड़ा पहना आपने तख्त को सजाया चारों तरफ उस पर कीमती खुशबुएं सुलगाई खूब आपने कीमती इमामा पहना खूब आपने अपने जिसम पर खुशबू मली और फिर इसके बाद आप बैठे और उसे कहा अदब के साथ बैठ जा हाथ बांधकर सर झुकाकर फिर आपने कहा बीस कोड़े मारे थे मैं तुझे बीस हदीसें सुनाऊंगा और वो भी कैसा दीवाना था हदीस का कहने लगा काश ज्यादा कोड़े मारे होते ज्यादा हदीसें मिल जाते हैं तो हम बताइए ये सारा तरीका ना साहबा से साबित न अहल बेहत अतहार से साबित न इमाम हसन ने किया न इमाम हुसैन ने किया न सैद शहदा ने कभी किया न हजरत अब्बास ने किया न सिद्दीक अकबर ने किया ना हजरत उमर फारूक ने किया न हजरत उस्मान गनी ने किया ना हजरत अली ने किया ये सारे तरीके जो हजरत इमाम मालिक के हैं ये इश्को मस्ती के तरीके हैं ये सारे तरीके उन्होंने नहीं किए किसी ने नहीं किए आप ये कर रहे हैं लेकिन आज तक गए तेरह सौ साल गुजर गए किसी ने इमाम मालिक को बिदत ही नहीं कहा सब यही कहते हैं कि इमाम मालिक ने ये जो तरीका ईजाद किया ये अपने इश्क की वजह से ईजाद किया और शरीयत ने जब मना नहीं किया तो इसमें कोई हरज नहीं तो हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अगर मीलाद करें और मीलाद की महफिल पूरे साल होती है उसका नाम रखा जाता है महफिल मीलाद उस महफिल में क्या होता है कुरान की तिलावत होती है कुरान खानी होती है दुरुद सलाम पढ़े जाते हैं हमद बारी ताला पढ़ी जाती है नाते पढ़ी जाती हैं कसीदे पढ़े जाते हैं दरस कुरान हदीस होता है बयान होता है आखिर में सलात सलाम और दुआ पर महफिल ख़त्म होती है मुझे बताइए इस पूरी महफिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो शरीयत के खिलाफ हो और इस तरीके से बताइए दीन को क्या नुकसान होता है बल्कि इस तरीके से तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इश्क में इजाफा होता है बड़ी हैरत की बात है यही महफिल अगर मुनद की जाए और उसका नाम महफिल मीलाद रखा जाए तो बाद लोग कहते हैं बिदत है बिदत आ है बिदत दलाल है और वही चीजें हम करें उसका नाम जलसाए सीरत नबी रख दें जायज है सवाल यह है कि चौदह सौ साल में जलसे सीरत नबी किसने किया है सीरत नबी कॉन्फ्रेंस किसने की है इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस किसने की है खत्मुल अंबिया कॉन्फ्रेंस किसने की है खत्म रसुल कॉन्फ्रेंस किसने की है मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस किसने की है तो जब ये सारे तरीके नए हैं तो ये जायज हो सकते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इश्क में महफिल मिलाद का वो तरीका जो तकरीबन 1100 साल से जारी है कितने साल से और तमाम मुहदसिन मुफसरीन ने लिखा कि बिदत हसना है उसको बिदत दलाला कहना और जलसा सीरत नबी जो 40 साल से जारी हुआ उसको बिदत हसना कहना कैसे अफसोस की बात है असल बात यह है कि लोगों ने बिदत के मफहम को समझा नहीं उनके नज़दीक बिदत की तारीफ ये है कि जो काम हम करें वो सब जायज़ और जो काम दूसरे करें वो बिदत सैया बिदत की तारीफ हमने समझ ली अल्लाह तबारक व ताली हमें बिदत सैया से महफूज फरमाए और बिदत हसना को समझने की तोफ़ी और सदत नसीब फरमाए अब आप ये बात समझ लें आखिर में फिर कि बिदतें जो आ है बिदत जो दलाला है इसकी दो किस्में हैं एक अकायद की बिदत है और एक आमाल की बिदत है और सबसे बुरी जो है वो अकायद की बिदत है तो आइंदा जो नशस्त होगी हम चौदह सौ साल में उन तमाम लोगों का जिक्र करेंगे कि जिन्होंने बिदत दलाला बिदत सयाह अकायद की की यानी गलत अकीदा और वो अकीदा उन्होंने बना लिए जो कुरान के भी खिलाफ है हदीस के भी खिलाफ है तो यह सबसे बुरी बिदत है और इसी बिदत वाले के मुतालिक रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो तुम्हें बिदती नजर आए उसे सलाम मत करना उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ना वो मर जाए तो उसकी तदफीन में शरीक मत होना वो बीमार हो तो उसकी आदत मत करना तो उससे मुराद वो बिदती है जिसका अकीदा खराब हो सबसे बुरी जो बिदत है वो अकीदे की बिदत है मसलन जो तकदीर का इनकार कर दे वो बिदती है जो तकदीर का इनकार कर दे वो बिदती है जो साहबा कराम को काफिर समझे वो बिदती है जो हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर की खिलाफत का इनकार करे वो बिदती है जो हजरत आयशा की तोहीन करे वो बिदती है तो इन शाह कुरान हदीस की रोशनी में हम ये जानेंगे कि ऐसे बिदती कि जिनका अकीदा खराब है सबसे खतरनाक बिदती वो हैं और साहबा कराम ने उन्हें बिदती कहा है अल्लाह तबारक व ताली हमें ईमान की सलामती अता फरमाए और हर गलत अकीदे से हम सबको महफूज फरमाए